विमलय रामचंद्र दीज पवन सुत हनुमान दीज सब संतन की दो हजार उन्नीस के बाद ब्रह्मणा तप कहूँ के मारा कर केहूँ बार कटक संहारा कहीं देखा कप मूर्छित नाग पास बांध सिले गयबू जप सुनु भवानी अवबंधन काटई नर ज्ञानी आस दूत की बंद तरुआवा कार जलग कपी बंधावा प्रतिबंधन सुनिश्वर श्रधाये कौतुक लाज सभा सब आये दस मुख सभा बीत कति जाई कहीं न जाई कछुवती प्रभुताई कर जोरे सुर दुषित विनीता प्रगुट विलोकत सकल सभीता देखि प्रतापन कपि मन शंका जिनहि गणमा गरुड़ शंका कहीं दशानन बिहसा कही दुर्वाद सुतबद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद याद करेंगे लंका ये और वहाँ हनुमान जी ने फल खाए और अशोक वाटिका के वृक्ष भी उगाड़ दिए तो नक्षत्र उन्होंने जाकर रावण को खबर दी रावण ने सेना भेजी हनुमान जी ने सबको मार दिया उसके बाद जाकर फिर जब खबर मिली रावण को तब तो उसने अक्षय कुमार अपने पुत्र को और सेना भेजी हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मार दिया उसकी भी सेना मर गई तब उसके बाद फिर मेघनाथ को जाए और मेघनाथ की और उनके तो जो है हनुमान जी का बहुत युद्ध हुआ और दोनों ही मरने वाले नहीं थे इसलिए दोनों का युद्ध होता रहा मेघनाथ को मरना नहीं था लक्ष्मण जी के हाथ मरने के था और हनुमान जी भी ये भी अजय थे ये मरने वाले ये भी नहीं थे ये भी अमर दोनों में युद्ध हुआ सीता जी ने पहले कह दिया अगर अमर तुम हो तो कैसे मर सकते हैं अगर मरो इसलिए दोनों के बीच में ऐसे न मरने वाले व्यक्तियों के बीच में दोनों सदा के हुआ ये बहुत युद्ध हुआ कोई हार जीत नहीं हुआ तब लेखनाथ ने सोचा कि ये तो सब प्रकार की युक्तियाँ लगा ली सब अस्त्र शस्त्र चला लिए लेकिन इनके ऊपर कुछ कारगर नहीं होता हनुमान पर तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा ब्रह्मास्त्र तो तब चलाया जाता है जब और कोई युक्ति काम न करे कोई अस्त्र शस्त्र काम न करे तब ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो उसने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र इत्यादि जो अस्त्र है ये <clears throat> प्राचीन काल में और कोई अस्त्र नहीं धनुष के ऊपर बाण ही चलाते हैं और मारते हैं लेकिन बाण ही विभिन्न प्रकार के हैं और ये मंत्र के बल से कार्य करते हैं मंत्र शक्ति प्रधान थी उसी से ये बाण चलते हैं <clears throat> तो ये मंत्र जप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो जब मंत्र जपते जपते ब्रह्मा जी प्रसन्न हो और वो ब्रह्मा जी वरदान दे तब वो ब्रह्मास्त्र काम करता है इसलिए ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों इत्यादि के लिए तप करना पड़ता है <clears throat> मंत्र बल से उनको जो है वो अपने को शक्तिमान करना पड़ता है लेकिन महाभारत के युद्ध में भी ब्रह्मास्त्र समय भी था कामा के पास भी था द्रोणाचार्य के पास था लेकिन इन लोगों ने चलाया नहीं अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र था अर्जुन ने भी नहीं चलाया लेकिन अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र उसके पास भी था लेकिन उसकी विद्या अधूरी थी ब्रह्मास्त्र की चला तो सकता था लेकिन उसका फिर रोकथाम उसकी जो है उसको करने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी ये देखते हैं बस गिने चुने लोगों में ही इस प्रकार के लोग बात तक करते हैं इतना भूषण तक करें ब्रह्मा जी प्रसन्न हो और फिर वरदान दें तब ये अस्त्र प्राप्त होता है तो अब ये इसने मेघनाथ के पास यश था ब्रह्मास्त्र था तो उसने हनुमान जी पर छोड़ा तो अब ब्रह्मास्त्र को न मानना के तो माने ब्रह्मा जी के वरदान को न मानना तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं की फिर अवहेलना होती है तो ये तो सब सब देवताओं का काम ये है कि कम से कम देवताओं की मर्यादा की तो रक्षा करें उनको ये थोड़े कि एक वरदान दे तो दूसरा कह नहीं मानते हाँ, तो ऐसा नहीं ये सब आपस में एक दूसरे करते हनुमान जी जो है वो शंकर जी के अवतार है ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा जी का वरदान है इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के रक्षक में लेकर के जो ब्रह्म सर मानव महिमा तय पार तो इसलिए उसकी महिमा की रक्षा करने के लिए हनुमान जी ने जो ब्रह्मास्त्र का <coughs> निरादर नहीं किया उसका ऐसे मालूम होता है कि हनुमान जी चाहते तो उसका उसके उससे भी <coughs> ब्रह्मास्त्र से भी लेकिन स्वेच्छा से मानो ब्रह्मास्त्र का प्रहार उन्होंने सहन कर लिया ब्रह्मवान कपि कौटी मारा तो के माने मेघनाथ ने जब इनको ब्रह्मास्त्र मारा हनुमान जी को तो परजों बार कटक संगारा तो ब्रह्मास्त्र लगा हनुमान जी के तो हनुमान जी से घायल हो गए और बेहोश होकर के वृक्ष पर से नीचे धरा उनके नीचे गिर गए तो जब नीचे गिरे तो नीचे जहाँ निशाचर लोग आस पास हनुमान जी को मारने के लिए खड़े हुए थे उनके ऊपर जब गिरे तो तमाम निशाचर दब गए और मर गए तो कहीं देखा कभी मूर्छित भय तो <clears throat> मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी अब मूर्छित हो सके तो बेहोश में पड़े हुए थे तो नाग पास बांध से ले गए तो उसने उनको बांध दिया <clears throat> मूर्छित अवस्था में हनुमान जी को <clears throat> नाग पास में बांधा बांध करके उनको ले गए तो कहते हैं जा सुना हमने जब सुनो भवानी अब याद रखो कथा चल रही है शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को तो शंकर जी कहते हैं कि हनुमान जी कैसे बन गए और उसको मेघनाथ उसके मैंने जीत गया तो कहते शंकर जी मैं ऐसा मत समझे पार्वती जी की हनुमान जी कुछ हार गए और मेघनाथ को जीत गया अरे ये तो सब लीला है कहते हैं जास नाम जब सुनो भवानी ए भवानी सुनो जब भगवान का नाम लेकर के लोग जो है भवबंधन का कहीं नर ज्ञानी भवबंधन से छूट जाते हैं मुक्त हो जाते हैं नाम जपते जपते उनको आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता है और वो मुक्त भी हो जाते हैं नाम जपने का जिसका फल ऐसा हो तो कहते हैं ताश दूध की बंद कर आवा उसका दूध क्या बंधन में पड़ सकता है तो इसलिए मानी ये भी है कि संसारिक बंधन तो छोटे बंधन है सबसे बड़ा बंधन जो है वो जन्म मरण का बंधन है जीव जो अज्ञान के बंधन में पड़ा उससे बड़ा कोई बंधन नहीं है सबसे भयंकर सबसे अंतिम बंधन है अगर वो बंधन छूट जाए तो फिर और कौन बंधन दुनिया का कोई प्रबंधन नहीं है <clears throat> वही अंतिम बंधन है और उसको भी जब भगवान की कृपा से वो भी छूट जाता है तब ये क्या बंधन बंधन शरीर को कोई बांध ले कुछ करके ये कोई बंधन खास नहीं है तो कहते दास दूत की बंधु तरावा उन भगवान का दूत भला बंधन में कैसे आ सकता है प्रभु कार्य लगे कपे बधावा भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा लिया ये चलो हम बांधते और बांधते ऐसे करके बंधवा दिया तो इसमें बंधवा देने में भगवान का क्या काम एक और तो भगवान की लीला चल रही है तो मानवीय लीला बानरों की लीला ये सब लीला होती चले इसलिए और दूसरी बात ये कि हनुमान जी चाहते हैं कि रावण से भी मिले उसके दरबार का उसके सैनिकों का उसके वीरों का भी उनका सबका पता चले इसलिए भगवान का काम ये विद्युत का काम ये कि सारा समाचार सूचना लेकर के रास भेद खोल करके लेकर के आवे तो हनुमान जी चाहते हैं कि वो भी पता लगाए तो कभी बंधन सुमिन निश्चर भाई जब हनुमान जी को लेकर के रावण के दरबार में ले जाया गया तब जो निशाचर भय के मारे भागे फिरते थे दूर दूर थे वे भी सब आए कहा कि बच गया बच गया आप चलो जो तब देखने लायक चीज बन गई कितना इतना शक्तिशाली बानर <clears throat> वो बंधन में बांध दिया गया तो तमाशा बन गया जैसे दौड़ने के लिए सब दौड़े और कौतुक लाल सभा सभी आए और कौतुक मैंने तमाशा देखने के लिए दौड़ करके कि कितना भारी विशाल शक्तिशाली बंदर है जिसने उसने मुसाफिरों को मार दिया रावण के पुत्र को भी मार दिया सेना सेना को संघार कर देता है तो देखने लायक ही तो साथ है तो सब देखने के लिए तमाशा देखने के लिए दौड़ पड़े दसमुख सभा दी को कभी जाई अब देखो हनुमान जी को बांध के ले जाया गया रावण के दरबार में वहाँ दरबार में हनुमान जी जब पहुँचे तब वहाँ उसकी सभा को देखते हैं अब देखो तो हनुमान जी रावण को सभा को देखते हैं तो आप सब लोगों को सभा देखने को मिलेगी और सभी देखो ग्रामों का दरबार कैसा है तो कहते हैं कि कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई रावण की सभा में बड़ी ही प्रभुता है और इतनी है कि कुछ कहीं नहीं जा सकती प्रभुता के माने रोग डोग बहुत शान शौकत ये सबका संभव जाता है क्या है उसमें क्या महिमा उसकी है तो कहते हैं कर जोड़े शुद्ध शुद्ध विनीता देवता लोग तो उसके दरबार में हाथ जोड़े खड़े दुष्प मैंने दिपाल दिपाल भी देवता लोग हैं शक्तिशाली जो भी दिशाओं को साधे हुए हैं वो सब देवता रावण के दरबार में हाथ जोड़े खड़े हुए और हाथ जोड़े हुए खड़े रावण की तरफ ही देखते रहते हैं डर के मारे भगुट दिलोक सकल सभीता सभीता मैंने भयभीत है सबके सब देवता लोग और हाथ जोड़े रावण की तरफ खड़े हुए हैं और उसकी भ्रुकुटी देखते रहते हैं कि रावण की भ्रुकुटी किसकी तरफ तनी किसकी भार ही आई ये देखते रहते हैं डर मारे तो ऐसे सब देवता खड़े हुए हैं और रावण का ऐसा रोग है कि सब डर रहे हैं रावण के तो ये देखा कि उसका स्वाभाविक कितनी तो एक बात तो ये की निशाचरी प्रवृत्ति आतंकवादी होती है डरवाती देखो इसी बात से तो समझ लो अब ऐसी सभा आप देखेंगे कहीं भगवान राम के दरबार में महाराज दशरथ के दरबार में जनक जी के दरबारों में इनमें कहीं इस प्रकार की जगह हो कि सब लोग जितने सभा में बैठे हो भयभीत हो ऐसे नहीं हम्म। ये राक्षसी प्रवृत्ति है कि जहाँ भय का शासन होता है जहाँ दैवी संपत्ति के लोग हैं वहाँ भय से शासन नहीं होता है बल्कि धर्म का शासन होता है मर्यादा का सभी अपनी अपने अपनी अपनी मर्यादा को अपने अपने धर्म को समझते हैं और उसी के साथ प्रेम और शांत और सहयोग के साथ में रहते हैं <clears throat> उदारता होती है शांति होती है सहयोग होती है जिन गुणों से युक्त होते हैं लेकिन जहाँ आश्री संपत्ति होगी <clears throat> वहाँ <clears throat> यदि कोई डराता धमकाता नहीं है तो दूसरे लोग भी डरते नहीं है और स्वेच्छाचारी होते तो उनके लोग स्वेच्छाचारी लोगों के ऊपर आतंक जमाने के लिए और उनको ठीक से काम उनको लेने के लिए एक व्यक्ति जो है उनको गालियां देता रहता है <coughs> उनको क्रोध करता रहता है चढ़ाता रहता है दंडा दिखाता रहता है तब शासन चलता है तो दंडे वाला शासन जो है ये आखिरी शासन इस प्रकार <coughs> तो ये सब सब सब भयभीत खड़े हुए तो प्रताप में कभी मन शंका लेकिन इतना आतंक है वहाँ उसके रावण के दरबार में लेकिन हनुमान जी पहुँचते तो निर्भय पहुँचते इनको भय नहीं लगता है तो जरा भी भय नहीं आता तो क्या करते थे कि जिन आयोजन में गरुड़ आशंका बस ऐसी समझ लो कि जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ हो गरुड़ के लिए तो सर्प भोजन है तो सर्पों से थोड़ी करने वाले हैं तो बहुत अच्छा है <clears throat> जैसे कि गरुड़ आशंक हो निर्भय हो सर्पों के बीच में ऐसे ही सर्प के समान है और हनुमान जी गरुड़ के समान है मानव शास्त्रों को खा जाने वाले तो इनसे कोई डर नहीं अब उसको जैसे हनुमान जी पहुंचे दरबार में तो क्या हुआ कि कपे बिलो की दशानन दिशा कई दुर्वाद जैसे ही रावण रावण ने हनुमान को देखा तो रावण ने दुर्वाद दुर्वाद के मैंने गालियां दी रावण ने हनुमान को गालियां दी अब गाली नहीं लिखा जाता है साहित्यिक भाषा में तो दुर्वाद बोला जाता है तो कहते रावण ने हनुमान को गालियां दी और गाली दे करके रावण खूब हंसा मैंने उपहास भी किया गाली भी दी और उपहास भी किया और रावण को याद आ गया कि देखो कि इसने जो ये बड़ा दुष्ट है ये इसने हमारे पुत्र को भी मार दिया सुतबद सुरत की अपने पुत्र के मारे जाने का उसे जो स्मरण आया इतनी सेना मारी गई हो तो कोई बात नहीं सेना तो मारे जाने के लिए है ही है उसकी चिंता रावण को थोड़ी है पुत्र के मारे जाने को उसको दुख हुआ तो कहते हैं शुद्ध बद सुरत की मुनि और उपजा हृदय विषाद तो उसके मन में पुत्र के मारे जाने का दुख हुआ रावण के मन में दुखी हुआ तो उसके मैंने क्रोध भी उसको आया गालियां भी उसने दी और रावण का उसने उसने हनुमान जी का उपहास भी किया ये सब रावण के दरबार में पहुंच करके हनुमान जी के साथ में इस प्रकार का व्यवहार हुआ अब देखो आगे क्या कहता रहा कह लंकेश कवन तैसार कई के बल ढाल सुबन खीसा की गौ श्रवण सुन नहीं मोही देखत शंक सकतो ही मारे निश्चर के अपराधा कहू सकतो न प्राणी के बाधा सुन रामण ब्रह्मांड निकाया पाय जासु बल विरचित माया कागे बल विरंच हरीशा पालत श्रियत हरित दश शीशा जावल शीश धरत शासानन कमल कोश समेत गिर कानन धरसु विधि देह सुरत्राता तुम से सटन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जय भंजा कोई समय तन बदल मद गंजा दूषण कृषरावर बाली बदे सकल अतुलित बलशाली जाति बल लवले सते जितु चराचर झारे दास दूध में जाकर हरियाण प्रिय नारे सियार रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय तो कह लंकेश कवन पैंतीसा अब रावण हनुमान से बोलने लगा कहने लगा कि कवन पैंतीसा तुम कौन बंदर तुम कौन हो हुँ? हम्म, तो कहने के बल घाल से बन खीसा और तुमने किसके बल से ये सब अशोक वाटिका सब उजाड़ के धर दी तुमने तो किसका बल है माने तुम अपने बल से तो तुम क्या होगा कोई तुम्हारा समर्थक होगा तो उसके भरोसे पर तुमने ये सब काम किया होगा तो वो कौन है कि धनुष मन समय नहीं मोही और क्या तुमने ये नहीं सुना कि एक रावण भी है रावण की कितनी शक्ति है और उसके कारण से तीनों लोग के सब लोग देवता लोग सब कांपते हैं तुमने क्या हमारी महिमा को तुमने क्या नहीं सुना न सुना हो, सकता है इसके वजह से धोखे में तुम्हें सब कर बैठे हो तो उतार दिए हो देखे अति असंख्य सत ही देखते हैं गिरे सत तो बहुत ही असंख्य असंख्य मैंने कोई भय तुझे नहीं लग रहा है बिना भी खड़ा हुआ है मारे निश्चर के अपराधा और इतने निशाचनों को मारा तो किस अपराध के कारण तुमने मारा और कौ सब तो प्राणी के बाधा और तुझे तो ये डर नहीं लगता कि तेरे प्राण चले जाएंगे तुमको दंड दिया जाए मारा गया तो तारक पर तुम्हें मरने को सबको डर लगता है तुम्हें अपने मरने को डर नहीं है क्या माने तुम्हारे प्राण का सब हाथ पे रखे हुए हैं मरने वाले तुम तो और तुमको जरा सा संकेत कर दे तो तुम्हें अभी सब <clears throat> मार काट छाट के तुमको डर दिया जाए तो ये डरवाता इस प्रकार से उनको कहता है ये सब <clears throat> तो ब्राह्मण ने कितनी बातें पूछी उसको एक एक बात को हनुमान जी सबका उत्तर बताते हैं क्रम क्रम से पहले उसने पूछा कि तुमने किसके बल से तुम जो है इतने निर्भय हो रहे हो और तुम कौन हो तो पहले सुनाते हैं कि कृष्ण राम ने ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल विरचित माया रावण सुनो ये समस्त ब्रह्मांड जो है माया रचती है और माया किस बल से समस्त ब्रह्मांड की रचना करती है जिस परमात्मा के बल से जासु पाए बल जिसका फल जिस परमात्मा के बल से ही माया समस्त ब्रह्मांड की रचना करती है वो परमात्मा और वही परमात्मा जाके बल ब्रह्म से हरीशा और जिसके बल से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के नाम ले दिया ब्रंथ ब्रह्मा जी हरि विष्णु भगवान ईश्वर शंकर जी ये तीनों देवता जो है पाल प्रसरित हर दशीषा हे रावण जो की सृष्टि का जो रचना करते हैं पालन करते हैं और विनाश करते हैं तीनों देवता वो जो परमात्मा है तो जा बल शीर्ष भरत शासन उसी परमात्मा के बल से ही वही एक शक्तिशाली परमात्मा उसी परमात्मा के बल से ही शेष नाग जी इस ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए अंड को समेत गिरिकानन इतने भारी भारी पर्वत और इतने भारी भारी सब ये पृथ्वी ब्रह्मांड ये सबको नाग जी जिस सिर पर धारण हुए किस बल से धारण किए हुए जिसके बल से धारण किए हुए हैं घर सुधीर देवी सुरत्राता और वो जो है सब देवताओं की रक्षा करने के लिए वो बार बार नाना प्रकार के अवतार धारण करता है और तुमसे सठन सिखावन दाता वो जो है तुम्हारे जैसे सठ लोगों को शिक्षा देने के लिए अवतार देता है वो परमात्मा अब माने इसके माने भगवान नाम पर ब्रह्म परमात्मा है उनकी माया की शक्ति से ही ये माया समस्त ब्रह्मांडों की रचना करती है और ब्रह्मा जी उसी माया की शक्ति से फिर तो जगत की रचना करते हैं विष्णु भगवान फिर पालन करते हैं शंकर जी उसका श्रृंगार करते हैं तो सारी सृष्टि में ये कई शक्तियाँ कार्य करती रहती हैं स्वयं की पालन की और विनाश की शक्तियाँ ये शक्तियों का सबका अधिष्ठान अंतता परमात्मा ही है <clears throat> अब ये दिखाते और रावण ये समझता था कि मैंने एक कैलाश पर्वत उठा दिया हनुमान जी कभी कैलाश पर्वत उठा दिया उसी का संकेत इस प्रकार का है कि देखो तुमने एक कैलाश पर्वत जिस तरह के ब्रह्मांड के ऊपर है और वो ब्रह्मांड तो शेषनाग जी सबके ऊपर रखा हुआ है और शेषनाग जी किसके बल से रखे हुए हैं हम्म? रावण भी तो इसी पृथ्वी पर टिका हुआ है हाँ, तो कैसे टिका हुआ है ये पृथ्वी किस पर रखी हुई है हम्म? तो कहते तुमको होश नहीं है ऐसे एक शक्ति पर परमात्मा है वो शक्ति सर्वसमर्थ है सर्वशक्तिमान है परमात्मा उसी के बस वो परमात्मा अवतार भी लेता है तो ये भी सूचना दे दी हनुमान जी ने जो परमात्मा परमात्मा होकर के निराकार रूप होकर के नहीं बैठा हुआ उसने साकार सगुण साकार रूप धारण करके अवतार भी लिया हुआ है और युग युग में अवतार लेता रहता है इस समय भी उसने अवतार लिया हुआ है और अवतार लेकर के वो क्यों अवतार लेता है सरकार नहीं बता दिया कि तुम्हारे इस अनुशासनों को शिक्षा देने के लिए विनाश करने के लिए वो अवतार लेता है हम्म, अब उसने क्या किया हर को दंड कटने की भंजा अभी सगुण रूप आ गया अभी पहले तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा का उसका वर्णन चल रहा था अब वही भगवान राम का अवतार हो गया तो हर को दंड कठिन बन गया जिसने शंकर जी के धनुष को जो कठोर धनुष था उसको भी जिसने तोड़ दिया अब अब तो रावण को पता चल जाए वैसे चाहे निर्गुण ब्रह्म को उसका ज्ञान न हो और न मानता हो लेकिन अब तो सगुण ब्रह्म रूप में भगवान राम की तो कथा से मालूम ही है और जनकपुरी में जब भगवान श्री राम जी ने शंकर जी का धनुष तोड़ा तो वहाँ ये तो रावण को मालूम भी था और रावण उस धनुष को छू नहीं पाया हाँ, रावण बाण छुआ नहीं आ, हाँ, तो वो देखो वो उसी रावण के इसलिए कहते कि उसने क्या किया कि कई समय तुमने पदल मत गंगा कई समय तुमने पदल मत गंगा ये समझ इस प्रकार से कि वो धनुष का भी तो मतलब खत्म हो गया वो नष्ट हो गया या ये समझ लो कि समस्त जितने राजा लोग थे उनका सबका मत भंग हो गया मन जितना अभिमान राजाओं का था वो अभिमान सब चूर हो गया उनके जब धनुष तोड़ दिया भगवान राम ने किसी किसी के राजा के तोड़े नहीं टूटा तुम्हारे तोड़े भी नहीं टूटा तो वो सब जो वो हो वही भगवान राम है परम परमात्मा का अवतार है वो उसके बाद की भी घटना याद दिलाते हैं भगवान जी कहते हैं और देखो खरदूषण तसरा ये रूपाली और उन्हीं ने यह खरदूषण तसरा को भी मारा तो रावण को तो खबर लगी थी इसलिए तो करने गया था कि खरदूषण तसरा को मार दिया तो ये <coughs> रावण को पहले ये शंका थी कि हो सकता है कि अवतार लिया हो भगवान ने अगर अवतार लिया होगा तो हम उनसे बैर युद्ध कर भाव करके <coughs> करेंगे उनसे और नहीं तो फिर अगर साधारण मनुष्य होंगे तो तो उनको जैसा उन्होंने किया है उसका दंड पा जाएंगे इसलिए जो है वो हनुमान जी उनको सूचित कर देते हैं तुम शंका में मत रहना बिल्कुल निश्चय समझो कि वो परम परमात्मा ने अवतार ले लिया है और उसे खर दूषण थसरा और बाली उसने खर दूषण थसरा को भी मारा और बाली को भी उसने मारा बाली को मार करके खरदूषण प्रसाद हनुमान ये रावण समझता थी हमारे समान बलवान है इसलिए उनका नाम बता दिया कि देखो ये सब मारे गए और बाल तो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था तो उसको भी कई बाल से भगवान ने मार दिया तो हनुमान जी ने उसकी भी सूचना दी कि बाल रावण चौक गया होगा कहा कि वो बाल जिसके बदल में डरे रहे वो बाली को मार दिया इन्होंने तो उनके सामने हम क्या है ये समझ जाना चाहिए उसे और बधे सकल या तो देखो बलशाली ये सब एक से एक शक्तिशाली थे इन सबका संघार भगवान राम ने कर दिया है जाके बल लव ले सके जिते उतरा चरिकार और तुम्हारे अंदर भी जो शक्ति है वो तुम्हारी अपनी क्या शक्ति छूटा अहंकार तुम्हारा है वो परमात्मा की जरा सी शक्ति तुम्हारे अंदर भी है उस बल से तुमने <clears throat> चर चर सारी सृष्टि तुमने सब्जी रखी हुई है पास दूत में जाकर हरियाण प्रियनाथ उसी का मैं दूत हूँ और तुम उन्हीं की <clears throat> स्त्री का हरण करके लाए तो जब पूछा तो कमर कैसा और के के के के बल घाल से बने खीसा उसका उत्तर हो गया अर्जुन बता दिया कि उनके बल से उन भगवान ने जिन्होंने उतार दिया उनके बल से मैंने ये सब किया है और मैं उनका दून दूत हूँ कौन कर खीसा के मैंने पास दूत मैं उन्हीं का दूत और ये भी नहीं कि तुम उनसे परिचित न हो ये कहते थे हरि आने हो प्रिय नार जिनकी किस्त्री का तुम हन कर लाए हो बस उन्हीं का मैं दूत आ जाए ऐसे करके तो मैंने अब रावण को कोई जो है वो परिचय देने की ज्यादा जरूरत नहीं सब पूरा परिचय देगा गया सब जान गया रावण की कौन है कौन कहाँ से आए हैं क्या है वो गया रावण ने ये भी कहा था कि कीधो श्रवण समय नहीं मोही क्या तुमने तुमने मुझे सुना नहीं कि मैं कैसा शक्तिशाली हूँ तो हनुमान जी अब कहते हैं आगे की हाँ मैंने सुना तुम कितने शक्तिशाली हो आगे बताते हैं कि जाने मैं तुम्हारे प्रभुताई सास बाहु सन परी लड़ाई समर बाल सन कर सुपावा सुन कपि बचन बिहस बिहरावा आयो फल प्रभु लागी भूखा स्वभाव के तोरे मुरुखा सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोही कुमार गामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे पर बांधे उतने तुम्हारे मोहिन कछु बांधे कैला जा चाहो निज प्रभु कर काजा विनती करूँ कर रामन सुनो मान तज मोर सिखावन देखो तुम निज कुल बिचारी ब्रह्म तज भजो भगत भयारी जाके दरवती काल बिहारी जो सुर असुर चरा चर खाई सासो बैर कदम नहीं की गये मोरे कहीं जान की दिए एक पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार रामचंद्र की गये पवन हनुमान की जय सब संतन की जय जानो मैं तुम्हार प्रभुताई अब उसका कहते हैं कि की धो समण सुनियो नहीं मोही तो उसके लिए हनुमान जी कहते हैं हाँ सुना है कि ये रावण था कैसा था कि तुम्हारी प्रभुता में पता है साहस भाव से करी लड़ाई कहते हैं कि तुम्हारे साहस भाव से